शरीर कांपने लगा अब ये क्या हो गया ये उसका जो है वो भय का संदेह उसका प्रदर्शित हुआ तो उसने सोचा कि अब रावण को इस प्रकार से जो प्रभावित करने की ऐसे तो मानता नहीं इतना बंदेगी बोल गई तो रावण के मुख के ऊपर ऐसा कोई भाव नहीं आया जिससे ये दिखाई दे कि हाँ उसकी बात को मानने के लिए वो तैयार है उसके संबंध में कुछ और जानकारी चाहे कुछ और समझना चाहे ये अपना कहे कि हाँ बात तो तुम ठीक कहती लेकिन हमको समझ में तो आवे बात क्या है ऐसे कुछ नहीं रावण बोलता तो फिर मंदोदरी इस प्रकार से आंसू बहाते हुए शरीर से कपते हुए बात तो बोलती है कि नाथ भजन रघुनाथ हे नाथ रघुनाथ को भजन करो उनका उनकी शरण में जाओ तो क्या होगा कि अचल हो ही अभिवाद क्योंकि हमारा भी इसमें स्वार्थ है इतनी सब बात शक्ति हम लगा रहे हैं बोल रहे हैं तुमको कि हमारा अजबात अच्छा हो जाए कि माने तुम जीवित बने रहो तो हमारा भी जीवन सार्थक बना रहे नहीं तो फिर जो है वो वैतव्य का जीवन जो है वो दुखदायी जीवन लगेगा इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान का भजन करो जीवित बने रहो लंका का राज्य करते रहो ये जो है उसको समझाया उसको तो ये जब देखा कि मंदोदरी अब ऐसे रोने लगी है और कांप रही है और उसको अपना भविष्य जो है इस प्रकार का कुछ दिखाई दे रहा है करी है तब तो राम उसको समझाता है कैसे बोलता है देखो आगे तब मय सुता उठाइए लाग कल निज प्रभुताई किया वृथा भय माना जग जोधा को मोह समाना वरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल किसौ सकल दिव्य पाला देव धनुज नर सब बस मोरे कवन तू पजा मैं तोरे नाना कभी से बुझाई सदा बहोर बैठ सो जाई मंदोदरी हृदय सजाना काल बस उपजाय अभिमाना सभाई मंत्र ने कहीं बूझा करब कवन विधि रूप संजूझा कहा है सचिव सुन सरना बार बार पूछो कवन भय करिय बिचारा नर कपि भाल वहार हमारा सबके बचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्र न मत यति हो तो। सियावर चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तब रावण मैं सुता उठाई अब मैं सुता के मैंने मंदिर और मंदोदरी को मैं सुता कहने का देखो ये अपना काव्य है उसकी शैली इसी प्रकार है मैं सुता कहते ये संबोधन है कि तुम तो मैं जैसे दैत्य की पुत्री हो और मैं जितना शक्तिशाली था किसी से डरता रहा और तुम उसकी पुत्री होकर के तुम डरते हो बस ये भाव इसी में आ गया मैंने एक बार उसने स्मरण दिला दिया उसको मैं सुता को मंदोदरी को कि तुमको तो भयभीत होना ही चाहिए साक्षर कभी किसी से डरता है दैत्य कभी किसी से डरता है तो उसकी पुत्री हो तो तब रावण मैं सता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई और तो वो खल रावण जो वो अपनी प्रभुता कहने लगा अपनी प्रभुता कहने लगा कि मैंने वो कितना शक्तिशाली है कितना मान मंदोदी ने बात कहाँ से शुरू की थी कि नीति क्या है कि अपने से जो बुद्धि और बल में जो बड़ा हो श्रेष्ठ हो उससे बैर नहीं करना चाहिए तब तो रावण का उत्तर कहाँ शुरू हो गया अरे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान मुझसे ज्यादा बलवान कौन है ये यहाँ से वही शुरू करता है उसका उत्तर करता है और फिर दूसरी बात ये कि अब ये इस प्रकार का बोलना खल खलता है खल क्या है जो व्यक्ति अपने मुख से अपने आप प्रशंसा करता है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने शास्त्रों के अनुसार वो व्यक्ति खल है खले के मन मूर्ख है अपने मुख से अपनी प्रशंसा जैसे देखते हैं कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी के में जो विवाद चल रहा था वहां पर जनकपुरी में बहस हो रही थी उसमें परशुराम ने भी बार बार अपनी ये सुनाई कि मैंने छत्रियों कैसे मारा और टाटा राव कैसे मारा और मैं इतना शक्तिशाली और तुम तो मुझे समझते नहीं हो तो तुम मुझे समझते नहीं बार बार इस प्रकार से बोला तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि आपन तुम आपन करनी भाप लेने के बारे बहुकरण करनी तो तुमने तो अपने मुंह से अपने आप अभी तुम इस प्रकार का वर्णन कर रहे हो अपना तरह तरह से उसका वर्णन करते हो अपनी माँ का अपनी वीरता का तो इससे दो बातें होती है एक तो जो व्यक्ति ने जो कुछ प्रशंसनीय कार्य किए हैं यदि व्यक्ति अपने मुख से कह देता है तो वो सब मिट जाते हैं अगर कोई पुण्य कार्य किया हो और अपने मुख से कह दे कि मैंने ये पुण्य कार्य किया मैंने ये पुण्य कार्य किया तो बस मिट गए पुण्य कार्य ये मनोविज्ञान है कि किस प्रकार उसका प्रभाव व्यक्ति के अपने ऊपर भी पड़ता है <coughs> इसलिए कोई प्रशंसनीय कार्य उसने अपने आप से किया हो अपने मुख से उसका वर्णन कर दिया तो उसका जो महिमा जितनी है वो मिट गई ये तो व्यक्ति ने जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं वो तो दूसरे लोग बोले तो प्रशंसा है अपने मुख से कहें क्या प्रशंसा अपने मुख से हर कोई व्यक्ति बड़ा बड़ा जो कुछ करेगा तो अपनी प्रशंसा ही समझेगा भले ही समझेगा तो उसमें जब दूसरे लोग उसे भला समझे प्रशंसनीय समझे तो प्रशंसा है तो क्या प्रशंसा है कोई कहता मैं बड़ा स्वाभिमानी हूँ मैं किसी की बात नहीं सुनता तो भाई तुम स्वाभिमानी हो तुम इस प्रकार से तो वो तो तब है जब दूसरे लोग तुम्हारे स्वाभिमान को स्वाभिमान माने अगर दूसरे लोग तुम्हारे बात को अहंकार मानते हैं तो क्या तुम्हारा स्वाभिमान तुम अपने अहंकार को तो अपने स्वाभिमान बोल लो किसी प्रकार से नाना प्रकार के कृत्य व्यक्ति करता है वही दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में क्या है वो अपनी दृष्टि में क्या है वो अन्य इसलिए ये मूर्खता का लक्षण है जो व्यक्ति नहीं समझता मूर्ख है वही अपनी प्रशंसा अपने आप करता है इसलिए उसको खल कहा कहे लाग खल निज प्रभुताई मान लो भगवान शंकर जी जो है वो हो पार्वती जी कथा सुना रहे हैं तो ये बताते हैं कि रावण ने क्या किया मैं सुता उठाई जो उसके पैरों में पड़ी हुई थी उसको उठा करके बताला और कहे लाग खल मान्य शंकर जी कह रहे हैं रावण क्या खल तो मूर्ख है इस प्रकार की बातें करता है कहे लाग खल निज प्रभुताई और सुनते हैं प्रिया प्रताप है माना अब रावण कहता है उसको कि तुम देखने ही तुम इस प्रकार से भयभीत हो रही और जग योद्धा को मोह समाना भला संसार में मेरे समान योद्धा कौन कितना शक्तिशाली है और वो अपने आप अपनी प्रशंसा अपनी योद्धा वीरता का वर्णन करता है भगवान राम अपने सामने इसके सामने हमारे सामने कुछ भी है उनमें कुछ सामर्थ्य नहीं है जितने सामर्थ्यवान हम हैं क्या सामर्थ्य उसकी है अब अपनी सामर्थ्य गिनाता है कहते वरुण कुबेर पवन जम काला बोले जितने सकल दिगपाला जितने दिग्पाल हैं उन सबको मैंने जीत लिया है ये दिग्पालों के नाम है वरुण है कुबेर है पवन है यम है काल है किसी प्रकार के ब्रह्मा जी है इंद्र जी है ये सब इस प्रकार दस देवता जो है वो दस दिशाएं हैं चार दिशाएं चार दिशाओं के बीच की चार दिशाएं आप और एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार की दस दिशाएं सबसे नीचे दस नीचे की दिशा में शेषनाथ दिग्पाल इस प्रकार के दसों दिशाएं हैं उन दसों दिशाओं के दस देवताए हैं तो, तो उन सबको मैंने जीत लिया है कि भुज बल के तुम सकल दिग पाला देव धनुज नर हो रहे अब ये तीनों तीन लोग हैं देवता एक सर्वलोक के और फिर मृत्यु लोक के मनुष्य पाताल लोक के साक्षस राक्षस धनुज ये तीन लोग हैं और तीनों लोगों को मैंने जीत लिया है तो आपका बीच बढ़ेगा आप कौन मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो देव जन जन सब बस मोरे कवन हेतु सुजा है तोरे अब बताओ आप कौन ऐसा बचा जो अब मुझसे लड़ेगा और मुझे जीत लेगा ये किससे में मुझे डरने की अब किससे बात रह गई ये कवन हेतु उपजाप है तो रे तुम्हारे मन में खुशी उत्पन्न हुआ अब ये देखते हैं कि रावण जो है वो मंदोदरी से जो बात करता है तो आदर पूर्वक करता है एक बात रावण की है रावण जो है वो उस प्रकार से व्यवहार नहीं करता जैसे अन्य लोगों से करता है मंदोदरी कई बार समझाती है हालांकि मंदोदरी भी अपनी तरफ से जो समझाती है बोलती है तो उसने पैर पकड़ लिए हाथ जोड़ लिए गिनती कर दी वो नाराज नहीं होती रावण से इसलिए रावण भी उससे नाराज नहीं होता दूसरे रावण के मन में ये भी है कि ये मंदोदरी जो है वो मैं दानव की पुत्री है तो वो बहुत ही सम्माननीय पुत्री है मैदानों इसलिए मैदानों की के आदर्श के साथ में उसका भी आदर होना चाहिए तो इसलिए उसके पिता के कारण से वो उसका आदर है तीसरे वही पटरानी बनी सबसे बड़ी रानी वही है तो रानी होने के नाते भी उसकी वो आदर सत्कार करता तीन बातें इस प्रकार की है उनके कारण रावण जो से नाराज नहीं होता बस उसको इसी प्रकार को बोलता रहता है कहता कहता है कि सुन कह प्रिया प्रताप है माना ऐसे करके उसको समझाते ही रहता है तो कहते नाना विधि से ही कई सुविधाई इस प्रकार रावण ने तरह तरह से जी को समझा दिया कि तुमको कोई करने की बात नहीं तुम निश्चिंत रहो तो कुछ होने वाला नहीं ये तो तुम्हारे स्त्री स्वभाव है इसे तुमको डर डर लगता है तो आशंका के कारण तुम्हारे मन में इस प्रकार की बात आई तो अपने मन को मजबूत करो करने की कोई बात नहीं तो नाना विधि ही कई बुझाई सभा बहुत बैठ सो जाई और फिर वहां से उठ करके जाकर के सभा में पहुंच गया रावण अपने राजसभा से उठा तो वहाँ था भय उसको फिर मन में आया था तो अपने भय को छिपाने के लिए तो किया भवन में राजभवन में और वहाँ जब मंदिर जी ने इस प्रकार से बोला तो अब वो क्या करे वहाँ तो वहाँ से भागा कि आगे बात न पढ़ने पावे बात खत्म हो किसी तरह से इसलिए मंदिर जी के यहाँ से उठा करके फिर दरबार में आ गया अब दरबार में आकर के बैठता है तो कृपा करता है सभा कहो हृदय की सोचा और वन फिर लौट करके आ गया दरबार में और मंदोदरी हृदय से जाना तब कहते हैं कि मंदोदरी ने क्या विचार किया बाद में रामा के चले जाने पर अपने आप सोचने लगी अपने मन में तो देखो कैसे क्या हो गया है काल वस्तु उपजा अभिमान अब ऐसा लगता है कि अब ये जो है वो रावण जो है वो काल के वश में हो गया है और काल के वश में होने के कारण उसको अभिमान उत्पन्न हुआ ये अहंकार इसका जो है वो बस इसीलिए काल इसको जो वो दे जा रहा है विपरीत के साथ विनाश की तरफ ले जा रहा है तो जिस बात की सूचना जगह जगह बीच बीच में देते रहते हैं एक बार अगर क्रांत मानो से किसी ग्रंथ को पढ़ो तो ये पता लगे कि अहंकार के दुष्परिणाम क्या है तो उससे ये भी पता लगे कि अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण ही काल का ग्रास बनता है अपना आप विनाश अपने आप कर लेता है जैसे रावण ने कर दिया वैसे लगता है अहंकार में क्या दोष कहा गया मुझे रहने दो बस वही कथा खत्म नहीं हो जाती अहंकार बुद्धि को विनाश की ओर कैसे ले जाता है उसकी बुद्धि कैसे दुर्बुद्धि हो जाती है कैसे काम करने लगता है बहुत पुराने बच्चों की कहानी पश्चिमी देशों की कहानी सुनाई जाती है एकदम कुछ हो गया हम्म? और बिंद मिश्र वो जो है वहाँ पर बिंद बिंद घूमते थे ऊपर हवा में तो अब उद्दान की जोत कहा ये सब दिखाकर हूँ सबके साथ देखो अपनी तलवारें घुमा रहे हैं और मेरे सामने इनका क्या बल चलेगा और मैं इनके साथ युद्ध करूंगा अब दान की जोत उनसे युद्ध करने के लिए तैयार बिंद मिल से और अपने लिए तलवार और जो घोड़े पे चढ़ा हुआ और बिंद मिल की तरफ दौड़ता है हम्म? तो अपना अहंकार लेकर के बिंद मिल और बिंद मिल इतनी जोर से घूम रहा है पंखे इसमें जाकर के अगर वो इसमें जाकर के अपना घुस जाए और भाला मार दे तलवार मार दे तो सजा होगा सिवा उसके छिन्न भिन्न हो जाए उसको कोई बचने वाला थोड़े हो अहंकार की जब व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है तो ऐसे ज्ञान को जोट की तरह से बिंद बिंद की उपहार आक्रमण करने को तैयार हो जाए मंदोदरी हृदय आ जाना तो कहते मंदोदरी हृदय जाना बंद हो जाए कि काले बच्चे उपजा अभिमाना सभा मंत्र कई पूजा कहते हैं कि सभा में आकर के वो ब्राह्मण <clears throat> ने क्या किया के मंत्र ने कभी पूछा मंत्रियों से फिर रावण पूछने लगा मैंने मंत्रियों में परामर्श होना चाहिए अब क्या होना चाहिए गर्व कवर ने भी प्रसन्न पूछा हाँ, कि अक्षत्र तो आ गया है अपने ही संताप की राय उसमें सीमा के भीतर घुस आया है अब उसे युद्ध करना पड़ेगा युद्ध कैसे करना चाहिए उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए क्या सब लोगों की सम्मति है विचार करो अब देखो मंत्री को कैसी राय देते हैं उसको कहते हैं सत्य विश्व में निष्कर तो मंत्री कहते हैं आप तो निशाचरों के राजा हैं है? आपसे ज्यादा शक्तिशाली और कौन है प्रशंसा हे निष्कर हे निशाचरों के भी राजा आप जैसा शक्तिशाली बड़ा दुनिया में कौन है बार बार प्रभु पूछो कहा आप बार बार उसी बात के लिए क्यों विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए इसके मैंने पहले भी जैसे कि हनुमान जी का गए तो मान लो इन्होंने पूछा हो उन्हें मंत्रियों से कि क्या करना चाहिए इसी तरह से फिर बीच बीच में और भी बात आई होगी तो मंत्री लोग कहने लगी वही बात आप क्या बार बार पूछते उनसे क्या है उनसे डरने की बात क्या है मानव से क्या डरने की बात उनसे कौन सा युद्ध होने वाला है और युद्ध का सभी बात ही क्या है तो कहा कि फिर कैसे कहो कवन भय करिए बिचारा अरे कोई भय हो तो उसके लिए विचार करें कोई डरने की बात ही नहीं क्यों कि नर का विभाग हुआ हार हमारा कहते हैं कि मनुष्य और बंदर और भालू ये तीन आए दो तो उसमें मनुष्य है, है? और मान इत्यादि कुछ भालू है और कुछ जो है ये सुग्रीवाद में हनुमान आदि ये मानर है ये तो बस है तीन प्रकार और ये तीनों क्या है आहार हमारा आज तो हमारे भोजन है और हम खाते क्या है सबको खाते हैं तो जब हमारा भोजन ही आ जाए यहाँ पर खाने के लिए तब उससे अब अपने भोजन से तो युद्ध करता है तो ये बात होती है कि आ गया भोजन तब उससे हमें क्या करना है कैसे लड़ाई करनी है और कैसे उसे विजय प्राप्त करनी है और खाओ और क्या उसमें क्या विचार करना तो आप देखो उसमें ये <clears throat> देखते हैं कि लोग मंत्री लोग राय कैसी मंत्री लोग भी जानते हैं कि रावण कैसा है उसके स्वभाव कैसा है तो जैसा रावण है हाँ, कैसे उनका जो मंत्री उसको भी तो कहेगा ठीक आप जैसे अहंकारी को जैसा आपका अहंकार उसी को पुष्ट करने वाली राय भी हम्म? आप दूसरे की बात सुनने नहीं है तो जो आपके मन में बात है वही बात हम भी कहेंगे तो सब अब क्यों कहेंगे कि सुन करके रावण प्रसन्न हो जाएगा कभी देखो हमारे मंत्री कितने अच्छे हैं कैसे अच्छी राय देते हैं हमको तो। खुश होगा वो तो उसको रावण को खुश करने के लिए मंत्री ने उसको राय दी लेकिन वहीं पर जो है उसी दरबार में रावण का एक पुत्र था उसका नाम था प्रहस्त वो भी वहाँ बैठा हुआ था तो सबके बचन श्रवण सुन कहे प्रहस्त कर जोरी सबकी बातों को सुना तो प्रहस्त ने देखा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं तब उसने प्रहस्त ने हाथ जोड़ करके रावण से इस प्रकार से कहा प्रहस्त भी जानता है कि ये बात रावण को प्रिय जरूर नहीं लगेगी तो इसे मंदोदरी में हाथ जोड़ करके सिर नवा करके अंतर प्रसार करे कहा था ये भी रावण का पुत्र है तो उसने भी विनम्रता पूर्वक ही रावण से कहा कि नीत नीत विरोध न करिए प्रभु मंत्र न मत अति छोड़ ये मंत्रियों की बुद्धि बहुत थोड़ी और नीत विरोध न करिए प्रभु नीत के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए ये प्रश्न समझाना शुरू किया कि नीत क्या है उसको आप ध्यान में रखो मंत्रियों जो आप कह रहे हैं वो तो आपको ठकर से आपकी बातें करते हैं कि सही राय देने वाले नहीं है और देखो रावण के सब पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा था जो रावण से का विरोधी था विरोधी क्या था उसको सही रास्ते पर ले जाने वाला ऐसे उधर भी देखते हैं कि राष्ट्र के भी सौ पुत्र थे उन पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा भी था कि जो दुर्योधन का विरोधी था उसने तो जब दोनों तरफ से युद्ध होने का हुआ महाभारत का युद्ध तो उसने जाकर के कहा अपने घर में परिवार में बात की कहा कि हम उनके भाई साहब दुर्योधन की तरफ से हम लड़ने वाले नहीं हम तो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे क्या ये भी अन्याय की लड़ाई हम तो न्याय की तरफ से लड़ेंगे तब तो समझाया बुझाया गया उसको वहां सब भाइयों ने उसको ऊपर प्रेशर डाला अरे भाई तुम आप क्रोधी कहलाओगे ये भी तो एक धर्म हो जाएगा है हाँ, तो आप हमका तो न बनो तुम तो उधर से होकर के ब्राह्मी लोगों को परस्पर तुम छोड़ोगे तो ये कौन सा धर्म तुम्हारा हो जाएगा मेरे इस प्रकार से लोगों ने घेरघार करके दोस्ती करके उसे पांडवों की तरफ से नहीं करना दिया लेकिन वो इनका विरोध करता रहता तो एक सिद्धांत ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि चाहे गलत रास्ते पर चलने वाले हजारों लाखों लोग हों लेकिन कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी बुद्धि में सभी न्याय और सत्य दिखाई देगा ये मत समझो सौ परसेंट सत्य सब जगह हो जाए समाज में चाहे जितना भ्रष्टाचार फैल गया हो चाहे जितना दुराचार फैल गया हो लेकिन ये न समझो कि सौ परसेंट हो गया आपको तो कहीं कोई रही नहीं जा सकती कोई न कोई एक आध व्यक्ति इस प्रकार का होगा जो सब इनको जो हो इनका विरोध करने वाला और अपने पैरों में शक्तिशाली होकर के खड़ा होने वाला कोई न कोई समाज में होगा वो सदा इस प्रकार से रहता है ये नियम है प्रकृति में प्रकृति का विधान सृष्टि का विधान इस प्रकार है तो कहते नीति विरोध में कही प्रभु मंत्र न मत यदि छोड़ आदि पढ़ने सुन कहें सचिव सच ठकुर सुहाती नाथन पूरे आवे यही भांति बारिद नाग एक कन्यावा आवा चरित मन बहु सबु सब गावा दान रही तुम ही सब काहू दारक नगर कसन धरि खाऊ सुनत नीति आदि सुनत नीक गया दुख पावा बने से मत प्रभु सुनावा यही बारिश बधाय उड़ेला उतरे हुसैन समेत सुबेला शोभन मन दिखाते हम भाई बचन कहा सब गाल खुलाई तात वचन मम सुनयत आदर जन मन गुन मोहि कर कादर ये बानी जे सुनही जे कहानी ऐसे नर निकाय जग आई वचन परम हित सुनत कठोरे सुन जो कहा तो मेरे प्रभु थोरे प्रथम बसीख पठ सुन नीति सीता दे करो पुन प्रीति नारी पाए फिर जान दो तो न बड़ाई रारी तो सन्मुख समर नहीं तात करिए हट मारे राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय वो कहता है कि चाहे सजीव सब सख ठकुर सुहाती कहते ये सब जितने मंत्री सखता कर रहे हैं मैंने आपके साथ में धोखाधड़ी की बातें कर रहे हैं ठाकुर सुहाती कहते हैं कि मैंने ठाकुर मैंने स्वामी और सुहाती मैंने अच्छा लगने वाली तो एक मीडियम बन गया है और ये है कि जैसा कि पानी को जो अच्छा लगे वही सब लोग बोल रहे हैं तो यही अच्छा लगा तो यही अच्छा है जैसे ठकुरस्वाती बोल रहे हैं ठकुरस्वाती बोल रहे हैं मैंने अपनी बुद्धि लगा करके सही बात नहीं बोल रहे नाथ न पूरे रहे भांति और जैसी ये राय दे रहे हैं उस प्रकार से पूरा पड़ने वाला नहीं है मैंने उसमें सफलता मिलेगा आगे कल्याण होगा ऐसा नहीं दिखाई देता है तो बारिग नाद एक कपियावा अब तर्क देता है कहता है हम क्यों कह रहे हैं इस प्रकार कहते बारिग नाद एक कपिया समुद्र को पार करके एक बंदर आया था यहाँ पर हम्म? और ताश के मन मोहन सब गावा उसने क्या चरित्र किए क्या लीला उसने की वो सब लोग आपसे कहे न कहे लेकिन सब अपने मन में उसके चरित्र को गाते हैं अरे भाई माने कैसा था वो तो देखो कितने लोगों को मार दिया कैसा बलवान था कैसा शक्तिशाली था नगर भर में कैसे आग लगा दी सब अपने मन मन में कहते हैं लेकिन आपसे भी कोई उसकी प्रशंसा करने सामने नहीं आता बोलता नहीं नेचर की वजह से नहीं बोलता कोई इसलिए जो अपने मन में उसकी प्रशंसा करता अगर जो तुम कहते हो कि बानर हम खाएंगे हमारे तो भोजन है तो छुटा न रही तो मैं सब काहू सब मंत्रियों की तरफ कहता है संबोधन करके रास्ते के उस समय का भाई तुमको भूख नहीं लगी हाँ? रास्ते भरा तो तुम्हारा अपरा लग रहा था तुमको कि बानर बन कैसे खाए हाँ? उसे इतने लंका में थे कोई खाने को नहीं बल्कि खा जाता है बानर तो छुटा न रही तो वही सब काहू बजारत नगर कसन घर खाओ वो नगर को जलाता रहा और तुमने भोग नहीं रहने के तो पकड़ के खा जाते उसको वो भी मानते जहाँ समझते कि भाई बड़े शक्तिशाली तुम हो और आगे जो है उसी से उसी के आधार पर अनुमान भी लगाया जाता कि एक बानर आया तो पानी मुसाफर खा गए कैसे तो और बहुत से बानर आ जाएंगे तो सबको खा जाएंगे लेकिन जब एक बानर को तो खा नहीं सके तब जहाँ पर इतने बानर आ गए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों इकट्ठे हुए अब तुम क्या खाओ उसको सुनत नहीं कि आगे दुख पावा तुम्हारी बातें तो कहने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं अरे इसमें क्या सोचना और अब खा जाए तो कहने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं आगे दुख पावा परिणाम इसका दुख ही निराश ही होने वाला है कोई भलाई होने वाली नहीं सच मैंने असमत प्रभु सुनावा इस मंत्रियों को तो सबका जितने आपके हैं ये ऐसी गलत राय आपको दे दिए है आपके मुंह पर अच्छी लगने वाली जरूर लगे लेकिन परिणाम इससे अच्छा होने वाला नहीं है ये उसने साफ साफ बता दिया करो समय कहा ही बारी से बधाई हेला ये तो बानर की बात थी कहते उनको जिनको मनुष्य कहते हो क्या वो मनुष्य है जो ही बारी से बधाई हेला जिसने समुद्र को खेल खेल में बांध दिया हाँ? और पुल बना करके और आपको पता तक नहीं चला लौट करके समुद्र के पास भी सब आ गए और उतरे सैन समेत सुबेला और वो आकर के अपनी सेना लेकर के सुबेल पर्वत के ऊपर उसने आकर के डेरा डाल दिया जमा हुआ है लंका के राज्य के भीतर यहीं बैठे हुए सब सेना लिए हुए तो खनु मनुष्य खा बसन खाई मनु से मन कहो भला कहो कि वो मनुष्य ऐसा ऐसा अब तुम से मनुष्य मानते हो और ऐसे मनुष्य को क्या हम लोग खा सकते हैं वचन कहा सब गाल फुलाई ये सब लोग तो झूठ मूठ में गाल फुला फुला कर कहते हैं कि हम इनको खा जाएंगे ये लोग न बानर खा सकते हैं और न मानव खा सकते हैं इनमें किसी खाने की सामर्थ्य में नहीं सब जैसे बैठे हुए मंत्री आप तात बचन मम सुने अति आदर इसलिए हमारी बात की तरफ जरा ध्यान दीजिए और उसके मूल्य को समझिए उसको आदर करिए हमारी बात को और जन मन गुण मोहित करी आदर और ये मत समझो कि मैं कोई कायरता की बातें कर रहा हूँ <clears throat> कायरता की बात अलग है नीति की बात अलग है हम आपको नीत की बात बता रहे हैं ये मत समझो कि अगर हम नीत की बात बता रहे हैं तो कायर हो गए समझ समझना तो ये कहते हैं कि प्रिय बानी जो सुनेंगे पानी ये ये है तो नीत की बातें नीत के सिद्धांत नीत के श्लोक संस्कृत में बहुत से हैं तो हिंदी में भी कभी ने उनका अनुवाद किया है तुलसीदास ने भी रामायण में जगह जगह नीत के जो वचन है वो संग्रहणीय है उनको जो है उनको सीखना चाहिए याद रखें तो विद्यानीत के वचन है वाणी जो सुनेंगी उनकी कहानी जो लोग अच्छी लगने वाली बातों को कहने वाले जो कहने वाले और सुनने वाले कहते ऐसे नर निकाय कहानी संसार में ऐसे तो बहुत आदमी है निकाय के मैंने मतलब ढेरों ढेरों हर आदमी इस प्रकार का मिल जाएगा कि जो उसको पसंद है वही बात कहो तो कहने वाले भी मिल जाएंगे और सुनने वाले भी जो प्रिय बात कहे उनकी बात सुनने वाले भी मिल जाएंगे सुनना भी प्रिय बात चाहते हैं और कहना भी लोगों की जो दूसरों को प्रिय लगे वही कहना भी चाहते हैं संसार में यही नियम क्यों बेकार झगड़ा लो किसी क्यों हम्म? किसी को कोई निंदा करो अरे क्या दोस्त भाई उसी को जो जैसा करा था बाप आत्मा स्थान कौन है चोर भी डाकू हो तो कहते आत्मा जैसा हिम्मत कौन होगा दुनिया में से कौन कर पाता है बड़ा हिम्मत हो तभी चोरी करेगा मेरी पकड़ जाते मारे जाते तुम्हारी जैसे हिम्मत दुनिया में आप प्रशंसा करें अब ये करो तो उसकी कोई प्रशंसा उससे इस प्रकार की बात बोलती छोड़ भी पाएगा देखो दुनिया में हमारी प्रशंसा करने वाले कहा तुम लोग अच्छी बात करते हमें कोई प्रशंसा करने वाला नहीं तुम तो मुझे ऐसे कहते हैं प्रिय वाणी कहने वाले और सुनने वाले संसार में बहुत होते हैं और वचन परम है तो सुमत कठोरे लेकिन जो बहुत जिसकी बात होता है लेकिन कहने में वो कठोर लगे मन किसी व्यक्ति को रुच करना हो आपकी ये बात हो लेकिन कठोर बात हो तो सुनेंगे कहें कि मेरे प्रभु थोड़े ऐसे कहने वाले भी थोड़े और सुनने वाले भी थोड़े सत्य बात सुनने को बात हो लेकिन कठोर वचन हो तो सुनने किसी गली नहीं उतरती सुनना भी नहीं चाहता और कठोर वचन जो है वो कहने के लिए भी लोग नहीं कहते कठोर वचन कहें कहीं किसी को इसलिए नीति की बात यह है कि जो सत्य है उसकी तरफ भाग होना चाहिए भले ही कठोर हो लेकिन सत्य होना चाहिए वैसे तो इसके आगे की भी नीत है ये तो नीत नीत की वचन ही है परमार्थ का वचन ये नहीं है नीति अलग है धर्म से भी श्रेष्ठ है परमार्थ उससे भी श्रेष्ठ है और यही नियम करे पहले नीत में आता है कभी इस प्रकार से है धर्म में आता है तो उसका थोड़ा रूप बदलता है और फिर जब परमार्थ में पहुंचता है तो फिर उसका और रूप बदलता है परमार्थ में भी कहते तो हैं परमार्थ की बात क्या है जैसे गीता में सत्रहवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि कैसे बोलना चाहिए कैसी बात सुनना चाहिए अनुद्वेद कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम तथा अनुद्वेद कर्म वाक्यम मैंने ऐसे बोलो कि जिसके मन में किसी को उद्वेग न उत्पन्न और सत्यम बात सत्य उन्होंने बोलो अगर कहोगे दूसरे दूसरे को बोल देंगे तो दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न होगा वैसे नहीं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम सत्य भी बोलो अप्रियम अप्रिय भी बोलो मैंने सत्य बोलो को माने ये नहीं कि कठोर जैसे यहाँ कह दिया रहे हैं अब तो हमने पढ़ाया नहीं तुम्हें कठोर कहा गया तुम तो कठोरी वचन बोले सत्य तो कहते हैं तो ये तो ठीक है कि गलत बात मिथ्या बात अप्रिय बात न बोलो लेकिन सत्य बात बोलो भले ही कठोर हो लेकिन कोशिश ये करो कठोर भी न बोलना पड़े अब जैसे मंदोदरी ने सत्य बात कही रावण से लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि उसने कठोरता उसमें भरपूर झगड़ा किया उसको भला बुरा कहा तो नहीं है विनम्रता से हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके शांति से प्रेम पूर्वक उसने कहा तो सत्य बात भी कह दी प्रिय बात भी कह दी और अनुपवेशकारी बात भी कहती कि रावण को उद्वेक हुआ भी नहीं सुन करते मंडोजी की बात को सुन करते सुना उसने और उसे झगड़ा नहीं किया उसने तो बात ऐसी बोलनी चाहिए तो कहते हैं कि प्रथम बस ये पठाओ सुननी सुननी की कहते हैं कि पहले उसके हमारा विचार तो ये है कि पहले एक बसी थी मैं दूध दूध भेजे ये हमारी नीति है और सीता दी करो पुन प्रीति और दूध को ले जाए दूट ले जाए सीता जी को और भगवान राम को सौंप सौंप दे और उनसे संधि कर ले दूध के द्वारा आप कर करवा अगर वो मान जाते हैं सीता जी को प्राप्त कर देकर